नमस्कार मित्रों ये वीडियो आज का जो वीडियो है वो अंधभक्तों के ऊपर है खासतौर पे जिन अंधभक्तों से किसी दिन मेरा पाला पड़ा और उन्होंने काफ़ी फेसबुक पे बहुत सुनी शंखनाथ सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त है ये पेड मीडिया से ज़्यादा खतरनाक है एक सेंस में क्योंकि ये पेड नहीं है अंधभक्त पेड नहीं है लेकिन मीडिया ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया है कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत भक्त है और इतने ब्रेन वॉश हो गए हैं कि एक लेवल के बाद जब उन्हें लगे कि नहीं सुब्रमण्यम स्वामी गलत आदमी है तो भी वो उसका विरोध नहीं करते ये सोच के कि इससे देश को मतलब कि इससे उनकी पूरी मेहनत में पानी मिल जाएगा और एक पॉइंट के बाद अर्थभक्ति कब देश को नुकसान करती है ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है इसलिए कि अंधभक्त एक ऐसा अप्रोच ले लेते हैं कि देश का हित बाढ़ में जाए देश का हित इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे नेता की भक्ति करना हमारे नेता की झूठी पब्लिसिटी करना या तो ऐसे तथ्य जो कि हमारे नेता को एक्सपोज कर रहे ऐसे तथ्यों को दबाना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यानी कि दे उनका ये नेता देश से ऊपर बन जाता है और ये बात आप सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त जो कि शंखनाथ ग्रुप चला रहे उसमें देखें तो बात ऐसा हुई कि शंखनाथ ग्रुप ने राजीव कृष्ण जी का वीडियो रखा राइट टू रिकॉल वाला मेरे हिसाब से वो वीडियो अभी उन्होंने डिलीट कर दिया है शंखनाथ ग्रुप से बाद में तो मुझे बैन कर दिया मेरे सारे पोस्ट भी डिलीट कर दिए क्योंकि गलत काम है उनके इन्विटेशन पे मैंने वो पोस्ट किए थे उन्होंने कहा कि भाई हमें हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं देते मैंने कहा रखो तुम्हारे जो सवाल है उसका जब जवाब मैंने पोस्ट किया तो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया और अभी भी वो यही सवाल दोहरा रहे हैं कि हम राहुल मेहता हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कोई मैं जवाब कैसे दूँ आपने मुझे बैन कर दिया मेरे पोस्ट डिलीट कर देते हो खैर जो बातचीत हुई उसके बारे में बताता हूँ उन्होंने दीक्षित जी का वीडियो रखा तो मैंने जो फैक्ट है वो रख दिया हूँ तो उन्होंने दीक्षित जी का राइट टू का वीडियो रखा जिसमें रखा कि व्यवस्था परि व्यवस्था परिवर्तन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट के बाद राइट टू रिकॉल संभव है और राइट टू रिकॉल से पहले पार्टी सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा तो मैंने अपना जो रेफरेंस मटेरियल है Rahul Mehta dot com slash three zero one उसका chapter forty point two four zero point two section forty point two इसमें मैंने इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स के बारे में लिखा है इसमें मैंने फोर्टी पॉइंट टू का ड्राफ्ट एक्सप्लेन किया कि ये जो ड्राफ्ट है राइट टू रिकॉल एमपी का ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छप जाता है ये गैजेट में छप जाता है तो अपने आप पार्टी सिस्टम कमजोर हो जाती है और राइट टू रिकॉल भी आ जाता है कैसे कमजोर हो जाती है कि जब रिकॉल इलेक्शन है उसमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम आता है पार्टी का नाम नहीं आता यानी कि पार्टी व्यवस्था ये ड्राफ्ट गैजेट में आने से अपने आप कमजोर हो जाती है पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए पार्टियों के कैंडिडेट जीत भी गए या हार गया जो भी होना था हो गया अब जब रिकॉल इलेक्शन होगा तो उसमें कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा हर एक इंडिविजुअल अपने नाम से खड़े रहेंगे तो दीक्षित जी की जो बात है कि पार्टी व्यवस्था को कैंसिल करनी पड़ेगी कैंसिल नहीं हो रही संपूर्णता पर काफी हद तक कमजोर हो रही है और राइट टू रिकॉल ये दोनों चीजें इस ड्राफ्ट में आ जाती है वो मैंने पोस्ट रखा और दूसरा पोस्ट मैंने रखा कि सुब्रमण्यम स्वामी का जो वीडियो जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी खुद कहते हैं कि right to recall is nonsense मैंने कोई झूठ नहीं बोला सुब्रमण्य स्वामी का अपना वीडियो पे स्टेटमेंट है तो मैं चैनल का नाम भूल गया कोई मल्टीनेशनल कंपनी की चैनल है C N N I N ऐसा कुछ है जिसमें उन्होंने कहा कि right to recall is non तो सुब्रमण्यम स्वामी के अर्थवक्त उन्होंने वो वीडियो तो पहले उड़ा दिया उसके बाद मुझसे सवाल पूछने शुरू किए तो मैं उनके जवाब देता गया और बाद में मैंने कहा कि भाई आप देशभक्त देश का हित चाहते हो वो तो जाहिर है मैंने सवाल नहीं पूछा मैं मान के चलता हूँ तो वो देश का हित चाहते हैं तो आप सुब्रमण्यम स्वामी से ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो हसन अली का ए राजा का और शहीद बाबा का पब्लिक में नाको टेस्ट होना चाहिए या नहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद एक बार कहा था कि वो हसन अली के शहीद बाबा के ए राजा के नाको टेस्ट के खिलाफ है अब मेरी बात तो वो मानने नहीं वाले है उन्होंने एक वीडियो में कहा था वो कोई वीडियो का रेफरेंस लाओ इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो है इस तरह से कैसे कोई रेफरेंस यूट्यूब पे जाओ और ऑडियो वीडियो सर्च तो है नहीं यूट्यूब में कोई वीडियो ऑडियो पे सर्च नहीं है टाइटल पे सर्च हो सकता है लेकिन मैं टाइप करूँ सुब्रमण्यम स्वामी हसन अली नार्को टेस्ट तो ये उनका जो वीडियो में कहा गया स्टेटमेंट है वो सर्च में नहीं आएगा तो मैंने कहा कि आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते तो कि भाई हम तो उनसे ये क्या पूछेंगे कि भाई आपने सुबह खाना खाया ये सवाल शंखनाथ के एडमिन ने मुझसे पूछा कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी सर हम क्या सवाल पूछते रहे कि आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं तो भाई ये इतने अकल के अंधे हैं या अंधभक्त है कि सुबह ब्रेकफास्ट लिया वो तो एक कैजुअल सवाल है आपने सुबह नहीं खाता ये नहीं खाता तो दोपहर को खा लेगा और हसन अली जैसे कमीने और ए राजा जैसे कमीनो आदमी का नार प्रोटेस्ट इन दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा उन्हें शंखनाथ के जो एडमिन है एक तो मैं वो क्यों ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से पूछने से घबराते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी आप हसन अली का शहीद बालवा का और ए राजा का पब्लिक में नाम प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं उस बात का जो विरोध कर रहे हो या तो समर्थन कर रहे हो तो अदालत में एफिडेविट करके डिमांड करो कि इन तीनों का नार्को प्रोटेस्ट होना चाहिए इन तीनों का नार्को प्रोटेस्ट होगा तो शरद पवार का नाम उछल के आएगा रॉबर्ट वद्रा का नाम उछल के आएगा सोनिया गांधी एट सुरपख गांधी का नाम भी उछल जाएगा और मनमोहन सिंह का नाम उछल जाएगा मनमोहन सिंह जो मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है जिसकी सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ करते हैं क्योंकि तो दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है उसका नाम उछल जाएगा कुल मिला के कुछ ऐसा अहमद पटेल का नाम उछल जाएगा क्योंकि असम ये अहमद पटेल के पैसे भी मैनेज करता है इस तरह से कम से कम कांग्रेस के 10, 12, 15 नेताओं के नाम उछल उछल के आएंगे असम अली का पब्लिक में नाम प्रोटेस्ट और उसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे तो मैंने शंखनाथ टीम के एडमिन को बोला कि आप ये सवाल पूछते हैं और कोई संजना गुप्ता हो तो फेक आईडी है कोई लड़की का फोटो था और वो तो फेक आईडी मैं प्रोफाइल देख के बता सकता हूँ तो उससे भी पूछा कि आप क्यों सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल नहीं पूछते तो उन्होंने पूछा कि हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है मैंने कहा आपके पास इतना टाइम नहीं है इतनी गालियाँ मुझे इतनी गालियाँ देने का टाइम है मुझे कांग्रेस का एजेंट कहने का टाइम है इतने सारे पोस्ट लिखने का टाइम है और ट्विटर पे सुब्रमण्य स्वामी को एक वाक्य लिखने का टाइम नहीं है तो कहा कि उनके पास में फिजूल टाइम नहीं है मैंने कहा उनके पास फिजूल टाइम है तो जवाब नहीं देंगे लेकिन आप सवाल तो पूछो आप ट्विटर पे सवाल रखो और वो जवाब जब भी उनको टाइम मिलेगा इतना आप शंकर आप इतने सारे सुब्रमण्यम स्वामी के प्रचार के पीछे आप घंटों घंटों लगा रहे हो और सुब्रमण्यम स्वामी क्या एक मिनट नहीं देंगे आपको देंगे और वो देना दे वो बात की बात है पहले आप तो सवाल रखो मैं आपको एक्सपोज करना चाहता हूँ मैं शंखनाथ के एडमिन को एक्सपोज करना चाहता हूं कि वो अंधवक्त है पेड़ है वैसा ऐसा नहीं बोल रहा मीडिया ने उनको ब्रेन वॉश कर दिया है और कि वो आ, कि सुब्रमण्यम स्वामी भगवान ऐसा मीडिया ने उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया अब तो ये सवाल उन्होंने काफी बहस चली एक एक घंटा तो उन्होंने उनके पास बहस करने का टाइम था लेकिन उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को ये सवाल नहीं पूछा क्या आप हसन अली के ए राजा के और शहीद बाबा के नागपुर देश का पब्लिक में पब्लिक में नागपुर देश लेने की बात का जो विरोध करते हो और यदि समर्थन करते हो तो आप सॉरी आप समर्थन करते हो गलती होगी लेकिन कल आप कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए कि इन तीनों का पब्लिक में नागपुर देश होना चाहिए ये सवाल उन्होंने नहीं रखा उसके बाद गाली गलौज चलता रहा एंड में मुझे बैन कर दिया दूसरे भी मैंने उनसे कहा पूछा कि भाई बांग्लादेशियों को निकालने के लिए सुब्रमण्य स्वामी ने एक भी कानून नहीं रखा और यदि कानून रखा है तो आई एम सॉरी लेकिन कानून रखा है तो उसका ड्राफ्ट हमें दीजिए तो उन्होंने कहा कि आपके सारे ड्राफ्ट बकवास है आपके यानी मेरे मैंने कहा चलो मेरे सारे ड्राफ्ट बकवास है आप सुब्रमण्य स्वामी के ड्राफ्ट दिखाइए हार्वर्ड के प्रोफेसर रह चुके हैं इतनी अच्छी डिग्री है उनके पास पंद्रह बीस साल एम रह चुके हैं वाजपेयी की सरकार गिरा चुके हैं और बीस साल बीस साल से ज़्यादा उनका पार्लियामेंट से एक्सपीरियंस हुआ दस साल बारह साल तो वो खुद पी रहे हैं कुछ अपनी कैरियर में चार पाँच साल मिनिस्टर रह चुके हैं तो उनके लिए तो बांग्लादेशियों को निकालने का या दूसरी चीज़ों को निकालने का ड्राफ्ट छः घंटे का आठ घंटे का दो दिन का काम है तो उन्होंने तो ड्राफ्ट लिखा ही होगा इतनी बड़ी समस्या वो ड्राफ्ट आप मुझे दिखा दीजिए तो कि ये सारे ड्राफ्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं है मैं इस शब्द में भार देना चाहूँगा कि शंखनाथ टीम को एक भी समस्या के उपाय में इंटरेस्ट नहीं है आप उनका पूरा वेबसाइट देख लीजिए मुझे मैंने पूरा उनका फेसबुक का पेज देखा कहीं भी समस्या के उपाय के ऊपर मुझे एक पोस्ट नहीं दिखा कि हम ये कानून मांगते हैं या तो ये कानून ये नेता ये कानून मांगते हैं वो सिर्फ कार्यकर्ताओं का आवेगात्मक एक्साइट करने वाली बातें देशभक्ति की हो समस्याओं के बारे में हो इस तरह की बात लिख वो कार्यकर्ताओं का टाइम वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं बस ये एक ही एक्टिविटी थी उसके बाद आगे डिस्कशन चलता गया तो उन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ मैंने कहा मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ कि आपके पास सबूत क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध किया तो मैंने कहा देखो भाई सबूत में दो चीजें होती है अदालत में जब केस चलता है तो तीन चार चीजें होती है एक होता है सबूत दूसरा होता है जीवाणी विटनेस टेस्टिंग बोलते हो और तीसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन आप यदि मुझसे सबूत मांग रहे हो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हसन अली के नार्को टेस्ट का विरोध करा तो आप मुझे सुब्रमण्य स्वामी के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दीजिए भाई अदालत में कोई केस चलता है तो दूसरे वकील को हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाता है और यदि आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश ना हो तो उसका गिल्ट मान लिया जाता है आपकी दुनिया सारी अदालतों में सिर्फ हिंदुस्तान की अदालत की बात नहीं कर रहा कि उसे ex officio sorry ex parte judgment कहते हैं एक्स पार्टी जजमेंट की जिसमें आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन ने मना कर दे तो उसके खिलाफ जजमेंट दिया जा सकता है तो आप यदि सच सच्चाई जानना चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी हसन अली के नाम को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दीजिए और मैं ये भी नहीं कहता मौका दे आप खुद एक सवाल पूछ लो हाथ कंगन और आखिर क्या तो अंत में ये अंधभक्त है वो अपने नेता से सवाल पूछने से क्यों घबराते हैं देखो यहाँ असली बात आती है कि जो अंधभक्त है वो जानते हैं कि यदि उन्होंने नेता को सवाल पूछा तो नेता पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाएगा यदि सुब्रमण्यम स्वामी को पब्लिक में पूछा गया अदालत के अंदर अदालत के अंदर पूछा गया कि क्या आप हसन अली का नार्को चाहते हैं क्या आप शहीद बालवा का नार्को चाहते हैं क्या आप ये राजा का टेस्ट चाहते हैं तो उन्हें नाइट ही कहना पड़ेगा पब्लिक में टेस्ट चार दीवार के अंदर टेस्ट नार्कोटेस्ट तो उसमें मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं वो फालतू की चीज़ है वो क्यों मना करेंगे क्योंकि ये सारे जितने भी बड़े स्कैम हुए हैं उसमें मनमोहन सिंह सरसे बहुत दबे हुए हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑफिशियली कहा है कि 2014 तक मनमोहन सिंह का पावर कायम रहना चाहिए आप मनमोहन सिंह से नौकरी से निकालने की कोशिश मत करो यानी मनमोहन सिंह की नौकरी चालू रहेगी भ्रष्टाचार चलता रहेगा रॉबर्ट वगैरह के खाते में पैसा जाता रहेगा सोनिया गांधी के खाते में पैसा जाता रहेगा प्रियंका गांधी के खाते में पैसा जाता रहेगा क्योंकि मनमोहन सिंह तो उनको हफ्ता पहुंचाने वाला है और सुब्रमण्यम स्वामी का सिर्फ वो स्टेटमेंट दे रहे लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अभी तक अदालत के अंदर ये भी नहीं कहा अदालत को कि आप सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस पिछले डेढ़ दो साल से कंटिन्यूसली वो कह रहे हैं कि वो सोनिया गांधी को जेल भिजवाएंगे वो उन्होंने जेल के बावर्ची को बोल दिया कि इटाली खा इटालियन खाना बनाना सीख ले वो फिल्मी डायलॉग एक के ऊपर एक मार रहे हैं लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने ये भी अभी तक अर्जी नहीं दी कि अदालत को कि आप सोनिया गांधी के नाम का नोटिस निकालो या सोनिया गांधी के नाम का समझ नहीं जब हमारे जैसे लोगों ने कहा कि आप कम से कम अदालत में एक कागज तो लिखिए कि भाई अदालत को रिक्वेस्ट तो कीजिए कि सोनिया गांधी का नोटिस निकालो तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी वक्त नहीं आया कब वक्त आएगा अगले जन्म में वक्त आएगा रॉबर्ट वधारे का नाम भी उन्होंने समझ में निकाला और अंत में जब तक ए राजा का नार्को टेस्ट नहीं होता तब तक क्या सबूत मिलने वाला है कोई कागज पे तो उन्होंने हेरा फेरी की नहीं है कागज पे तो उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है कि ऑक्शन नहीं किए और बिना ऑक्शन के जो लाइसेंस थे वो दे दिए ये बात कागज पर तय होता है पर ये जब तक उस आदमी का नार्को टेस्ट न हो पब्लिक में तब तक ये सबूत नहीं बन पाएगा कि उसने पैसा खाया नार्को टेस्ट से पता चलेगा कि उसने पैसा कहाँ छिपा के रखा है मॉरिशस की बैंक में स्विस बैंक में कितना पैसा किसको दिया मनमोहन सिंह को कितना दिया चिदम्बरम को कितना दिया सूर्यपंखा गांधी को कितना दिया या रॉबर्ट वगैरह को कितना दिया ये सारी बातें नार्को टेस्ट के जरिए बाहर आएगी और नार्को टेस्ट का सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे हैं अब शखना टीम के जो एडमिन है वो पेड नहीं है जब देश में इस तरह का माहौल था कि सारी पार्टियों से लोगों का विश्वास उठ चुका है वो तो आप जानते हैं कांग्रेस में तो किसी को विश्वास नहीं है कांग्रेस के वोटर है वो भी मानते हैं कि भाई सोनिया गांधी करप्ट है मनमोहन सिंह करप्ट है चिदम्बरम करप्ट है वो तो कांग्रेस का भी कोई वोटर कांग्रेस के लिए रखने पर की इज्जत नहीं है बीजेपी के नेताओं के बारे के लिए भी सारी इज्जत खत्म हो चुकी है कि गडकरी जो बिजनेसमैन बोलते हैं उसे कि तो ये तो पॉलिटिशियन है ही नहीं आ, ये लाइसेंस ले रखे हैं उसने लेकर के उसकी फैक्ट्री चला रहा है और सरसे पाँव तक इतना बिका हुआ आदमी है कि अभी मुलायम सिंह ने उसको पच्चीस करोड़ दिए तो उसने फ़ोन करके बीजेपी के जो कन्नौज का जो कैंडिडेट था उसको बोला कि भाई तू इलेक्शन मत लड़ और इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया तो पार्टी से निकाल दूंगा तेरे पे ये आफत आएगी आफत आएगी तो वो तो बेचारा एक लोकल लीडर है डर गया गडकरी का डायरेक्ट ऑर्डर है कि नॉमिनेशन मत फाइल करो तो उसने फाइल नहीं किया वरना कन्नौज में स्थिति यह है कि बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा रखा होता और प्रचार के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं किया होता तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता क्यों क्योंकि मुलायम सिंह ने मौलाना यादव ने मौलाना यादव ने वो गुलाम यादव का असली नाम मौलाना यादव है मौलाना यादव ने मुस्लिम फंडों को लाइसेंस दे दिया है कि आप जी भर के पिटाई करो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की आरएसएस के कार्यकर्ताओं की और पूरे जो इलाके हैं वहां से हिंदुओं को निकाला जा रहा है अभी जो रायट हुए वहां मथुरा में वो इसलिए हुए कि पूरी एक आबादी थी जो कि मुस्लिम मुंडों को खाली करानी थी वो आसपास के गांव से कुछ हिंदू आ गए और बच गए पर पुलिस ने जितने भी जो हिंदू थे उनको बोला कि भाई तुम नकाई थे वो तो सेल्फ डिफेंस में करे तो उनको अरेस्ट कर लिया क्योंकि मौलाना यादव का ऑर्डर था वहाँ पे जो कि जो भी आदमी मुस्लिम गुंडों का विरोध करता है उसको जेल में बंद कर दो तो ये परिस्थिति की वजह से बीजेपी के सारे कार्यकर्ता बजरंग दल के पूरे यूपी से वो कन्नौज इकट्ठा हुए थे कि किसी भी हाल में मौलाना यादव को हराना है डिम्पल यादव यानी मौलाना यादव इलेक्शन में मौलाना यादव ही लड़ रहे हैं डिम्पल यादव तो सिर्फ एक चेहरा मुखौटा है और बड़े पैमाने पे सौदाबाजी हो गई राजनाथ सिंह के भतीजे को कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया गडकरी को 25 करोड़ दे दिया और वहां पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं रखा और कांग्रेस भी बिक गई कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट नहीं रखा तो पूरे देश में ये जो माहौल है उसकी वजह से लोगों का पोलिटिकल पार्टी के नेताओं से भरोसा उठ गया और उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि भाई हम वैक्यूम है दीक्षित जी की भी हत्या हो चुकी थी अब इतना सारा वैक्यूम है तो चलो हम इसमें हमारे एजेंट रख देते हैं कि जिसको हम मुखौटा पहना देंगे कि ये कांग्रेस के विरोधी है ये सुरपंखा गांधी के विरोधी है ये भ्रष्टाचार के विरोधी है देशभक्ति की बातें सिखा दो उनको थोड़े सनातन धर्म के गुणगान रटा दो इनको तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत धर्म के गुणगान रट लिए हिंदू धर्म के गुणगान रट लिए सुरपंखा गांधी के खिलाफ भाषण देना शुरू कर दिया और इस तरह और पेड मीडिया ने उनको और मल्टीनेशनल कंपनी ने न्यायाधीशों को बोला कि इनके फेवर में थोड़े बहुत जजमेंट दे दो और पेड मीडिया ने इनको हीरो बना दिया तो दीक्षित जी की हत्या होने के बाद जो कार्यकर्ता थे उनमें भी एक तरह की मायूसी आ गई थी डिप्रेशन आ गया था और वो भी कोई अच्छा चेहरा व्यक्ति ढूंढ रहे थे उसमें जब पेड मीडिया ने बड़े पैमाने पे सुब्रमण्यम स्वामी के फोटो छापने शुरू किए तो वो उसके चपेट में आ गए जिस तरह से कोई पंद्रह सोलह साल की लड़की या लड़का प्रेम में फंस जाता है इस तरह से ये आ, जो कार्यकर्ता थे वो सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त बन गए और अंधभक्ति ऐसी चीज होती है कि पता चले उसके बावजूद भी मन नहीं करता ये स्वीकार करने को कि आदमी बिका हुआ है इतने सारे सबूत देने के बाद पहला मैंने उन्हें सबूत दिया कि आपको पता है 1998 में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया था क्या किया था उसने सोनिया गांधी की मदद की थी किस काम में मदद की थी वाजपेयी की सरकार गिराने में छोटे मोटे काम में मदद नहीं की थी यहां तक उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि सोनिया गांधी लक्ष्मी के अवतार है मैं स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा नहीं लूंगा कि चलो बोलना था बोल दिया कभी कभी पॉलिटिक्स में थोड़ा विवेक रखना पड़ता है तकल्लुफ करना पड़ता है बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया सोनिया गांधी लक्ष्मी की अवतार है पर उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए वाजपेयी की सरकार गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी की मदद की तो क्या वो तब की बात है मैंने कहा तब की बात है उनसे गलती हो गई भाई एक गलती हुई उसके बाद उन्होंने 2002 में स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस को बैन करना चाहिए उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट करना चाहिए वो खुद एफ लिखाने को पहुंच गए थे उसके बाद लगा कि भाई ये बीजेपी की सरकार है कोई तैयार नहीं हुआ उनका साथ देने के लिए मीडिया भी तैयार नहीं हुआ इसलिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ एफ नहीं लगाई पर पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था आप गूगल करो Subramanian Swamy B national security act NS ऐसा कुछ गूगल करो उनका स्टेटमेंट आया और नाइनटीन और नाइनटीन कुछ एक आठ एक महीने में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट या जिसमें वो कॉमर्स मिनिस्टर थे डिपार्टमेंट भी अंदर था दो डिपार्टमेंट उनके अंदर थे कॉमर्स डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट में उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो भी एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने दिया यानी कंडीशन रखी उसकी तारीफ की थी उतना ही नहीं उस पर साइन कर दिया था वो एक मिनिस्टर थे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया कॉमर्स मिनिस्टर साइन करे उसके बाद कैबिनेट साइन करे यानी पूरे देश ने साइन किया मर्जी के खिलाफ देश की मर्जी के खिलाफ और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे राजीव दीक्षित वगैरह उनको कहा कि ये झूठे स्वदेशी है ये उनका ही स्टेटमेंट है फॉल्स स्वदेशी फेक स्वदेशी और जब ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 1990-91 में उन्होंने डब्ल्यूटीओ की सारी शर्तें मान ली थी तो अब ये आदमी कैसा स्वदेशी हुआ और कैसा देशभक्त हुआ ये तो सबसे से बहुत मल्टीनेशनल कंपनियों का आदमी निकला तो ये सारे तथ्य उनको बाद में मिले क्योंकि पेड मीडिया ने तो उनको बताया नहीं थे और तब तक वो सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्त गए थे तो ये सारे तथ्य बताने के बाद भी वो अंधभक्ति में से बाहर नहीं आए अंधभक्ति वस्तु ही ऐसी होती है उसके बाद मैंने कहा कि वो वो एक ही आदमी जो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलता मैंने कहा भाई सोनिया गांधी के खिलाफ तो बहुत सारे लोग नाइनटीन से बोल रहे हैं नाइनटीन से बोल रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है ऊपर से नाइनटी एट में तो इन्होंने 1999 में तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को पीएम बनाने से मदद की थी जिसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था मैंने भी किया था पर उस समय तो मैं बहुत छोटी अभी भी छोटी रखती हूँ पर उस समय तो कोई मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं रखता था इंटरनेट पे थोड़े बहुत आर्टिकल ही डालता था फिर उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने टू के केस में जजमेंट ला दिया मैंने कहा टू के केस में जजमेंट लाया उससे ए राजा को जेल हो गई और टेलीकॉम मिनिस्ट्री सोनिया गांधी को मिल गई यानी सोनिया गांधी का चमचा को तो बिल सिंपल तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ शायद फायदा तो कांग्रेस को हुआ कि एक मिनिस्ट्री डीएमजी की कम हो गई और सबसे भारी मिनिस्ट्री जो डीएमजी के पास थी और वो मिनिस्ट्री कांग्रेस के खाते में हो गई फिर कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ वो फॉल्स एफिडेविट का केस जिन्होंने सोनिया गांधी ने झूठ बोला था तो उसके पास कैम्ब्रिज की डिग्री है मैंने कहा भाई उस फॉल्स एफिडेविट के केस में एंड में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया आप जानते हो बोला क्या किया मैंने कहा जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सोनिया गांधी ने बाला जो जज था बाल सुब्रमण्यम उसको पैसा दे दिया केस को रफा दफा तो बाल सुब्रमण्यम ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि ये पुराना केस है ऐसा वैसा गलती हो गई आदमी ने माफी मांग लिया वगैरह वगैरह आप केस को विड्रॉ आप केस को भूल जाइए एक ही सेकंड में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस विड्रॉ पूरा नाटक किया उसने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये अपील वो अपील ये कागज मंगा और जब एंड मौके पे सोनिया सोनिया गांधी को छह महीने की जेल की सजा दिलाने का मौका आया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेन को ड्रॉप कर दिया और अभी भी अभी भी वो चाहे तो कपड़िया की कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि केस को रीओपन करो और वो इतना साफ सुथरा केस है कि सुनिया सुरपंगा गांधी ने एफिडेविट पे झूठ बोला था उसने झूठ बोला उसकी माफी मांगी थी कैम्ब्रिज की डिग्री हायर नहीं उसका वो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाई और आ, तो इस तरह से उसको छह महीने की जेल की सजा दिला सकते हैं तो कापड़िया की कोर्ट में जब हमारे कार्यकर्ता ने पूछा कि आप कापड़िया की कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं देते तो उन्होंने कहा कि टू का केस खत्म हो जाएगा उसके बाद में दूंगा तो मैंने शंखनाथ के लोगों से पूछा कि आप बोलिए शंखनाथ वालों को आप सुब्रमण्यम स्वामी को कि आप कापड़िया की कोर्ट में एप्लीकेशन कल क्यों नहीं देते ये टू का केस तो हो सकता है दस साल तक चलता रहे तो ये सवाल भी शंखनाथ वालों ने नहीं पूछा क्योंकि ये पूछते तो सुब्रमण्यम स्वामी एक्सपोज यानी शमनाथ का अंतभक्त है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शंखनाथ के एडमिन को पूछे कि वो सुब्रमण्यम स्वामी से दो सवाल पूछे कि आप कापड़िया की कोर्ट में सुरपंखा गांधी का फॉल्स एफिडेविट का केस कब डालोगे और दूसरा आप ये सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में कब एफिडेविट देंगे कि हसन अली ए राजा और शाहिद पालवा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए ये एप्लीकेशन करने गए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी पार्ट टू में मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से अंधभक्ति से पूरे देश को नुकसान हो रहा है धन्यवाद